والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما हम तुम्हारा अल्लाह पर उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के नबी जिंदगी इसने भी उसके मकसद ही बताया <clears throat> पूरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को लाने को राजी करने के लिए रास्ता तो मंजिल तो वो है मकसूद वो है वहाँ कैसे पहुँचा जाए आदमी को कहीं जाना है जहाँ जाना है वो मालूम है वहाँ जाने का रास्ता क्या है कि जाना बगैर अल्लाह को राजी करना रास्ता आपने हमको ये घूमना कि हम अपनी उम्मत को और सारे नबियत की अपनी उम्मतों को पैसे का बारिश नहीं जो अल्लाह बिना से दीन और दीन का ऋण लेकर आते हैं उसका बारिश नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक फर्द को अपना वारिस बनाना वारिस दोनों के तरह के होते हैं मिराज की हिफाजत करने वाले भी होते हैं और मिराज को वायु तबाही में बर्बाद बर्बाद करने वाले भी होते हैं उम्मत के जिम्मे है इस मिराज की हिफाजत वीर की हिफाजत डॉक्टर अनुमान ने फरमाया कि हर चीज़ के हिफाजत का की जगह अलग अलग होती है कपड़े संदूकों में अलमारियों में बैगों में उसकी कपड़ों की हिफाजत सेवर है तो उसकी हिफाजत सेवर बख्श मुस्तकिल होता है तिजोरियों में बैंकों में पैसों ऐसे घर का मुख्तलिफ किस्म का सामान है दर सामान की हिफाजत कि दीन की हिफाजत कैसे हो दीन की हिफाजत कहाँ हो कि दीन की हिफाजत की जगह सिर्फ आदमी की जिंदगी आंखों का दीन है आंखों में मन है कानों का सवाल का हाथों पैरों का इसीलिए हर आदमी के लिए भी हुक्म आ जाती है कान से क्या सुनना क्या न सुनना आत्मा से क्या है बोलना क्या नहीं जबान से क्या बोलना क्या न बोलना ये सब किया है उसी के साथ मार्ग माल के लिए भी आपका बात है वक्त के लिए भी माल के लिए भी और फिर पैदा होते ही बच्चे के पैदा होते ही मुख्तलिफ तालुकात शुरू हो जाते हैं इनका बेटा है इनका पोता है इनका नवासा है इनका भांजा है उसका भतीजा है उसका भाई है एक ही बच्चा है सारे और इन सब में ये भतीजा भांजा बेटा नवासा पोता जो कुछ भी सबसे पहले ये अल्लाह का बंदा है अब जैसे ही ये सारे ताल्लुकात हैं उन सारे ताल्लुकात के रूप हैं दादा का पोतों पर पोतों का दादा पर माँ बाप का औलाद पर औलाद का माँ बाप पर बीवी का शोहर पर शोहर का सारे इज्तमाही हो गए मुलाजिम का अपने शेर पर शेर का और का अपने गुलाम पर ये सब अल्लाह शान अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना करके तो आपने के हालात देखे तो फिर जानवरों जैसा जहालत जहालत जानते भी थे हम कौन है हमारे दिन क्या है ये हमारी सारी चाल चलन फिरन कष्टें तालीम शहरोदार चूल्हे अंदर बाहर ये सारी एहसास की बेदारी के लिए एहसास जो है कोई जिंदगी है एहसास ही न हो ये कोरवा काम नहीं कर रहा है तो डॉक्टर जो है सुन से पूछता है कुछ महसूस होता है नहीं आगे बढ़े यहाँ कुछ महसूस होता है नहीं आगे बढ़े एक बाल तब तो डॉक्टर तो जी कहते वो जो पहला था जहाँ ऐसा वो मुर्दा है मर गया कोई आगे तुम्हारा यह साल है कहने को कि आदमी को ये एहसास ही ना हो कि मैं कौन हूँ मेरी क्या जिम्मेदारी है मुझे करना क्या है फिर ये तो मुर्दा है और फिर मौलाना यूसुफ साहब तफसील से फरमाते चलते तो दोनों हैं जिंदा भी चलता है और मुर्दा भी तो चलता तो है लेकिन जिंदा चलता है अपने दो पैरों पर और मुद्दा चलता है कि आपके कंधों पर कि सीधा के ये जो दो अमल जो गैर है वो ईमान और अमल है और मुर्दे के जो चार कंधे हैं दौलत का औरत का अहदे का और काली और दीवी का ये चार कंधे हैं लेकिन फरमाते थे कि मुर्दा चलता तो नजर आता है बड़े बड़े लोग उसको उठा के जाते हैं लेकिन जिन कंधों पर जाता है वही इसको लखना भी देते हैं इसी दौलत के रास्ते इसी हुकूमत रहने के रास्ते इन्हीं डिग्रियों के रास्ते ये मट्टी किसी काम का नहीं और अगर ईमान और अमल वाले पैर है तो फिर ये इंसान है बल्कि तो नहीं है ये खाता है कमाता है तो ईमान के साथ जो अल्लाह के वादे हैं वो अल्लाह पूरे करते हैं इज्जत के हिफाजत के अमन के बरकतों के रहमतों अमलों के साथ जो अल्लाह के वादे हैं वो अल्लाह पूरे करते हैं अपनी रहमताई ये मकसद बताया अल्लाह को राजी करना और रास्ता बताया हजूर हजूर ने पूरा दिन दिया है इसलिए दीन जो है वो चंद कामों का नाम नहीं है ये कलमा नमाज रोजा दखा छत जो है ये तो अरकान है जैसे मौलाना मोहम्मद यासान रहमत फरमाते कि छह नंबर पूरा दीन नहीं है दीन पर पढ़ने का रास्ता है मैं कभी सुनाया करता हूँ बहुत समय सुना भी होगा वहाँ अमेरिका में एक जगह हमने ईशा की नमाज पढ़ी थी इमाम साहब ने बहुत अच्छा खुराक किया उन्होंने साथियों से कहा कि मैं अपने इमाम साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि तो हमारी क्लिनिक में काम करता है इमाम भी है और क्लिनिक में काफी करता है उनके कहा भाई जो भी है इमाम से तो इसलिए तो कुरान ऐसा पढ़ता था जैसे कोई अरबी और नसल बच्चा पढ़ता मखारी अल्फाज लहजा असलम ये सब एक नौजवान अमरीकन नौजवान बिल्कुल काला इधर की भाषा आपकी आपको इसका कौन आपने कहा कुरान भी पढ़ा मेरा कोई फिर उन्होंने दास्ता भी सुनाई अपनी कि मैं इन लोगों के यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ इनके अखलाक जो वो जिनके यहाँ वो डेंटिस्ट थे मैं इनसे इन्होंने कभी मुझे गैर नहीं समझा खाने में मरीज आते हैं तो जवान जवान लड़कियाँ भी आती है और जल्दी आती है लड़की आती है लेकिन मैंने इसके अखलाफ आने वालों के साथ का बर्तावा और खास तौर पर औरतें और जवान लड़कियों को समझ यदि कोई भय अपनी बहन को गंभीर कोई नजर में नहीं religious सकता ऐसे मैंने इनको एक दिन मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसा हो सकता हूँ हाँ, मैं तो मुझे कलमा पढ़ा दिया अब मैं इंतजार एक दिन वो आए कि तुमने जो कलमा पढ़ा है जैसे हमारे छह नंबर में सबसे पढ़ा कलमा कलमा जो तुमने पढ़ा है वो तो हेटिंग है अनुमान है और उसके पीछे पूरी जिंदगी है इसको फलने वाली जिंदगी कहते हैं कि फलने वाले का कुल अल्लाह के साथ का ताल्लुक कैसा हो नबी के साथ का ताल्लुक कैसा हो नबी वही कहते हैं उस्ताद के साथ का शादी हो शौहर का बीवी के साथ भाई का भाई के साथ औलाद का माँ बाप के साथ माँ बाप का औलाद के साथ मादारों का ये पूरी जिंदगी के जितने शौके हैं वो पूरी जिंदगी करने वाली बने लेकिन तो बसत के लिए अहकाम लेकिन उस जिंदगी को सीखना पड़ता है माँ बाप का क्या है भाई बहनों का क्या है फिल्म का क्या है मस्जिद का क्या है रास्ते का क्या है मेरा खुद का मेरी अपनी जात पर क्या हक है कहा वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जन्म से बचाओ कि सबसे पहला मेरी जात पर मेरी जात का हक है कि मैं जहन्नम से बचूँ ये तो बता दिया कि जहन्नम से बचना जन्नत का दाखला ये इन दुनिया भर के सामानों के साथ नहीं है तो सारे का ताल्लुक आमाल से ईमान आमाल ईमान आमाल शिव और बदामल तो बात जो वही जिंदगी है तो करना पड़ता है लेकिन कहते पहले उस नियति के सीखने का शौक तो पैदा हो आदमी को किसी चीज का शौक होता है मुझे ऐसा कलम चाहिए मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे ऐसा ये चीज का भी शौक मुझे ऐसी किताब चाहिए जिस चीज का शौक होता है उसका आदमी को आदमी से पीछे पड़ जाता है किसी भी तरह ये लेना है उस जिंदगी के सीखने का शौक पैदा हो इसके लिए हम तीन दिन में जा रहे हैं ये बार बार कहते हैं तीन दिन की पाबंदी जैसों की पाबंदी ये मामूली चीज नहीं है लाखों लाखों की जिंदगी इससे बदली तो मैं भी चलता हूँ वो गया जब वहाँ जिस तरह जाती है मशवरा करती है छात्रों पर नाम दर्शन करती है खाना पकाती है कर सकते हैं कोशिश की में कर सकते आपस का मशवरा फिर वो तालीम में प्रदान कर होता है कि तालीम में मैं बैठा था शायद अमृत कर भी रहा था देख भी रहा था तो हमारी तालीम में तीन चीज़ें हैं फजाई अमान पढ़ाई सरकार के साथ किताब पढ़ना छः नंबरों का मुलाकात और कुरान भी कहल था कि कम से कम इतनी सोच हैं कि इससे नमाज सही हो जाती है इन्होंने पढ़ा इन्होंने पढ़ा मेरा भी नंबर आया तुम तो जानता ही नहीं था तो खाली कलमा पढ़ा था मुझे फिक्र हो गया ये मुसलमान थे तो कुरान वाले मैं क्या समझ कि उस दिन से मैं पीछे पड़ गया क्या किसी तरह आदमी जो किसी की तलाश में लगता है उसको मिलता है हमारे साहब तो बहुत फरमाते जो अल्लाह को अपना बनाना चाहता है जो अल्लाह की तलाश में लग जाता है उसे अल्लाह और जो अल्लाह के गैर के पीछे पड़ जाता है तो मिल जाता है अल्लाह के अलावा जो कुछ सब गैर तो लगे तकलीफ है कि मुझे फिर पता चला कि सऊदी अरबिया से एक प्रोग्राम रेडियो पर रेडियो होता है आप कुरान कैसे सीखे अन्य उपाय वगैरह सब अनेक बात से खरीदते मेहनत देखने से सोची और सीखा ये मेरे उपाय बड़ा लंबी बात इसलिए हमारा ये जो काम है लेकिन हमारे अपने खुलाए बताते थे कि काम की सादगी और काम की मूल्यत ये खुद हिजाब बनी हुई है इसलिए तो लोग तो मुश्किल के बयान के हम लोग बहुत ऐसे नक्शेदार हों और उसमें अमकात असरार सुनून लतीफ़े फिल्मी लफाए और ऐसे ही हर बीमारी अगर किसी तारीख देखें तो आमतौर पर यूनान के अफिबा होते थे यूनान दवा लेते थे और वो हकीम साहब एक मरतबा नल देख कर लिखा लिख देते हैं इसको पीना है छानना है पीसना है तो और बहुत मामूली सा होता है लेकिन बाद में फिर अब ये स्पेशलिटी आई नाक का अलग कान का अलग पेट का अलग पीठ का अलग दिल का अलग लोगों की तरफ लोगों की तरफ की तरफ और लोग तारीफ करने लगे डॉक्टर तो बहुत देखे यार क्या डॉक्टर है है ब्लड प्रेशर खड़ा करके भी ये काम करके भी ये काम करके भी ये लंबा सांस लिवाया रोकवा लिया ये हुआ हकीम साहब हमारे हजूरी लाल फरमान थे उनके खानदान में बड़े बड़े हकीम मौलाना रशीद हसन साहब दस साल के बाद कोई मरीज उनके पास जा जावे तो उससे यूँ कहते थे कि भाई चाहे भूल गया हो मैं तुझे नहीं भूला हूँ तो दस साल पहले आया था मैंने तेरी नब देखी थी तेरे सुन आज भी मेरे नजदीक तो तेरी बीमारी यही है और इलाज भी यही है इस्तेमाल करेगा तो फायदा होगा नहीं होगा तो तू जा ऐसे हमारे बुजुर्गों ने तो आज हदीस और सीरत उम्मत जो सदियों से गुजरती चली आ रही खिलाफत राशिदा उसके बाद बादशाह का जमाना आया बनो अब्बास शाह बन उमैया और कैसी कैसे हुकूमतें कैसे कैसे उससे उम्मत गिरते गिरते गिरते हुए पहुंची थी कि जो उम्मत अपना दीन सीखते चलते और दीन की मेहनत करते हुए जिंदगी गुजारेगी और अल्लाह को राजी करेगी और उसके हाथों क्यामत तक की कौमों को रास्ता दिखेगा जब खुलून अभी अब्बाला का मंजर आए होगा लेकिन तो मजबूरियत का रास्ता भूल गई इसीलिए पढ़ाने वाला नारा सुराती मुस्तकी मनमत्ता जड़ बला करते जड़ से कोई रास्ता सीधा ही है इधर उधर जाओ झपट तक जाओ तो गिरते गिरते वो बगदाद अल्लाह और क्या वहाँ की खानखा है क्या वहाँ चढ़ना सिर्फ सिर्फ की शेख अब्दुल खाली मिनाज जुड़े के बदारी और बड़े बड़े लेकिन गिरते गिरते हालत ये हो कि खुद बगदाद उजड़ा क्योंकि अल्लाह पाक की किसी से रिश्तेदारी नहीं है ये ऊंचा खानदान ये लंबी नाक के उसके आप ये चीज देखी नहीं करें बगदाद में हुकूमत थी तो उन्होंने ताकालियों पर जुल्म किया वहाँ एक कौम थी ताकाली और जुल्म ऐसा किया है तोबा करो जैसे फिरौन ने तो जुल्म किया माँ की छाती पर उसके मासूम बच्चे को लिटा कर दो टुकड़े की मेरी माँ कुछ कहती अंदर ही तो ये ताकारी अंदर ही अंदर पूर्ण रहती है अल्लाह हुकूमत इनके पास स्वागत इनके पास है हम तो हमारी ये इसीलिए हमसे कहा बर्दाश्त अजमानी अल्लाह है मजलूम किसी मजलूम के की मत लेना कि जब वो आफ भरता है तो आसमान को खींचते हैं तो मैं क्या करूँ मेरे बस में कुछ ये बस ए अल्लाह जब ये अंदर से कहता है एक आकार की पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और उसने ये कहा कि ये मुसलमानों के खुदा हमने सुना है कि तू आदर इंसाफ का साथ देता है तेरे यहाँ हुए जुल्म की तेरे यहाँ को जुल्म है ये तेरे नाम लेकर लेने वाले हम पर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं तुमको तो देख रहा है हमारी मदद कर वो आपकी रैब आवाज आई अब हम तुम्हारे साथ ये उतरा उस वक्त में बगदाद ने मुसलमानों का हाथ इतना रौब था कि तातारी समझते थे कि अगर इसको मार भी दो मुसलमान को तो ये जिंदा होकर तुम्हारा पीछा करेगा ये मरता नहीं इतना रौब था मुसलमान वो उतरा है ये जो धारणा है और वो मुसलमान जिससे दुनिया भर अच्छा नहीं खड़ा मुझे कतल करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है क्या घर गया हथियार लाया कोई तो है जब वो मर गया उसका कोई वो नहीं न उसने प्रतीक्षा किया न उसने इनकी हिम्मत बन गई अब सफे की सफे खड़ी थी मुसलमान और तीन दिन के अंदर चौदह लाख मुसलमान उस बगदाद में उन तादादियों के हाथों चौदह लाख बगदाद भी के मशाइ के खानदान की दीन था लेकिन जब दौलत आई पैसा आया हुकूमत आई तो उसका गलत इस्तेमाल ये सारे वाकत इज्जत इसीलिए हमको पुराने का के दो रास्ते हैं शुक्रगुजारी का और ना शुक्रगुजारी ये तो क्या है आदमी जिस रास्ते चलता है उस रास्ते को बाहर हाथ कार्य से बगदार कार्य से दूसरा कार्य से समरबंद और काका ऐसे अजीब अजीब वाकत है ये बुखारा ताशमाला चमकता अभी मैं पढ़ रहा था इस किताब एक आदमी का नाम उसने अचानक हमला कर दिया और समर्पण को लगा वहाँ वाले कि इनका रास्ता तो है कि पहले तीन दिन तक दावत देते हैं न माने तो फिर दूसरे को कहते हैं तीसरा भी न दे तो फिर फिर उसमें वो सारी शर्तें बूढ़े को औरत को मासूम बच्चे को इबादत दास को किसी चीज को उसने हजार खाना वहां जो था उसने पर्चा लिखा और वो जमाना था हजरत उमर इतना अब्दुल अजीज जहाँ ये हुआ हजरत कमर इतना अब्दुल अजीज रसमल्ला ने सब लिखा तो जो काशिद आया था उनकी तरफ से पैगाम लेकर उसने देखा ये पर्चा तो ये ये पर्चा हमारी कौन से मुसलमानों के दूर से और उनके उससे बचाए कि ये क्या इनके बड़ों ने दिया है ले जाता ये जब पहुंचा तो काजी ने फौरन आधार उठाई और उसे आपने कानून के तहत वर्दी की हो आपने इनको दावत नहीं दी आपने इनको जीवन नहीं फौरन समर्पण खाली कर दो अब जो लोग चलने लगे और झूल उड़ी तो सवरमती की पब्लिक ने देखा क्या हो रहा है कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं तो हमको हुक्म अच्छा ये अपने बड़ों की बात इतनी मानते हैं आप ले जाएंगे और वो वहां की पब्लिक फिर अपने बड़ा जो उनका पादरी था उनके पास गए कि भाई ये तो रहेंगे चाहे हम जाए वही कह रहे और जब इनके इतने पावन हैं कि करने वाला दावत देता है ये करता है ये इतने पावन हैं हमें सबको कलमा पढ़ लेना चाहिए सब में कलमा पढ़ जैसे वहाँ बगदाद में उसका आधारी ने यूँ कहा कि जब हमने ये कहा था कि एक मुसलमानों के खुदा तो उसकी वजह से हमारी मदद आई थी हमको तो सबको सबसे पहले उसी को मानना चाहिए वो सारे बर्बाद सारे ताकात मुसलमान बहरहाल भाई दोस्तों मैं भी कहता हूँ तो सारे हालात सारी तारीखी और मुस्लिम कुरान हदीस सीरत और तारीख इस्लाम की रोशनी में उम्मत गिरते गिरते गिरते यहाँ पहुँचे इसको अपनी बीमारी का ही पता नहीं कि मेरा ईमान कहाँ है मेरा खिलाफ कहाँ है मैं कहाँ हूँ तो वही बात एक देख ली और लिख दिया शिफा तो अल्लाह के हाथ में है दवा के भी यही है जैसे वकीम साहब कहते थे बीमारी यही है दवा यही है शिफा अल्लाह के हाथ में से मौलाना इलियास साहब के पद पर कि हमारे तालिए हमारे कामकार हमारे डॉक्टर हमारे जवान हमारी औरतें हमारी कुमारी बच्चा पूरी उम्मत की मुश्तरका बीमारी जो है वो ईमान की कमजोरी है आमाल की खराबी है अखलाक की गिरावट है इल्म है ही नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज की मसले नहीं मालूम रोजा रख रहे हो हज कर रहे हैं जहाज के साथ बुजुर्ग तुझे आगे हम थे मौजूद थी हैरन में दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे दो आदमी जब अपने मदीने गए थे तो वहाँ तो देखा था कि रोजे ने तो यहाँ क्या कि अल्लाह के नबी हैं अब कर बकर अपने यहाँ अब तो उमर में फिर वहाँ और में गए और वहाँ हजरत मुसाबी ने उमेर और हजूर के चौथा उनकी खबरें ये सारी कहकर फिर दूसरे हदीस इस घर में क्या है तो अल्लाह के बारे में पूछता है तो दूसरे ने क्या कहा मालूम हम बैठे हैं क्या है क्या है अल्लाह ना की खबर है कौन कह रहा कौन कह रहा हाजी मोहम्मद की शहादत के साथ तो अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद साहब अल्लाह या उम्मत मुश्तरका तौर पर इस बीमारी में इलाज इसका यही है इसलिए ये छः नंबर जो है हमें पांच बड़े जिनका दर्श होता था हर मदीना में और उनके महीने का बहुत बड़ा और यहाँ पर आठ लाख मुसलमान हैं और मैं बयान कर रहा था तो हमारे मौलिक न्यूज रविया है वो मेरे बराबर में करते थे एक जवान से पूछा बेटा क्या करता है क्या जिन्होंने मुस्लिम शरीफ पर हमला याद कर लिए कर लिए बुखारी शरीफ शुरू की लड़कियों को क्या शिक्षा की किताबें लिखी तो वहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को सबसे पहले इसको हाफिज दौरान बनाए फिर उसके बाद सारे और चीज़ें खुद हमारे इस सूरत में यहाँ से अपने माँ हरम में जाते हुए सबक लेते तो भूल गए अपना सारा धर्म से चक्का दौर में चमक चमक तो खैर उस सारे दिनों में अल्लाह वालों ने हमें और नित्यों काम अपने मकाम पर हो तो कोई नहीं और फिर तस्वीर बदल चार है कलमा का साथ मुल्कों में नाचा पैदा की सवारी मर्दों के साथ औरतें और जवान स्टूडेंट और सारे के ये अब इसको इस तरह करना क्या करना करते हैं अल्लाह पाक जो जितना करे अल्लाह पाक कबूल फरमा ले सब इनको तारीफ अल्लाह ताला माफ फरमाए और हर एक कौन की कमी कोताही का एहसास देते हुए चाहिए दो चीज़ें अगर सामने हो ला इल्ला व हरुल मुमिन ये या ईमान वालों पहले तो हजूरा कब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यारे नबी आप अपने आप को पावन कर लीजिए आप अपने आप को पावन कर लीजिए दूसरों को तरबीज देते रहिए ये दूसरी बात या अय्युह तबाह प्यारे नबी आपके लिए अल्लाह काफी है और जो भी आपकी चाल चलेगा जो आपके मन को अपना भ्रम अपने टीचर को टीचर नमाज नमाज जैसे आपकी जिंदगी उसके लिए भी अल्लाह काफी दो तो, और तीसरी बात अल्लाह पाक ने फरमाई बस तकलीफ तमाम हो जैसा कहा है उस पर इस्तेमत के साथ पाबंदी के साथ इसीलिए सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने के हाथ पर गया हमने हजूर के हाथ पर बैठ की आप ही की सुनेंगे आप ही की मानेंगे जी चाहेगा तो नहीं चाहेगा तो दूसरों को हमसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा तो इसलिए हमारे मौलाना साहब का मतलब का तो फरमा करते ना वह हमारी इस मेहनत में तो पूछे न पूछे अपनी जरूरत अपने को मोहताज समझ कर करना जैसे भूख में आदमी अपने आप अपनी भूख महसूस करता मैं भूखा हूँ इसीलिए कहते इस मेहनत में वो मकामी गणित हो इंजिन हो गलती हो गिलावत हो अच्छा सुलूक हो जो भी हो आदमी अपने को मोहताज समझेगा तो जो भूख जिसको भूख लगेगी जिसको जो भूख का तो ऐसा लगा वो की तलाश करेगा जिसको अपना ईमान अपनी आखिरत अपने अखलाक अपने अल्लाह को राजी करना नबी की पाक सलासम को खुश करना जिसको जो अपनी जरूरत समझेगा वो उसको करेगा लेकिन तो मैंने जैसे कहा ना कि वो बंगाल गुजरा समरकंद और ताजमंद और बुखारा क्या क्या उस सब के बाद जो पद गिरते गिरते गिरते तक पहुंच गई कि जिसके हाथों खुदा की मखलूक को रास्ता दिखता और हिदायत मिलती वो खुद ही मुर्तद होने लगी ऐसे वक्त में अल्लाह पाक ने जैसे ये आम बीमारियां होती है ना कभी प्लेग फैलता है कभी जैसे ये डेंगू बुखार भी बहुत चला जब कोई अमूमी वबा होती है तो उसके लिए हुकूमत अमूमी गाड़ियाँ और डॉक्टर और जगह जगह कैंप लगते हैं और उसका इलाज वहाँ से होता है ये बिल्कुल शुद्ध है उम्मत की रोमन बीमारी ये नया बहुत अच्छे लगते हैं माशा अच्छा कारोबार के लिए जीव अच्छे भी हैं और अच्छे तंदुरुस्ती हैं लेकिन अंदर सारा खोखला असल मसला जो है जैसे गाड़ी जो चलती उन्होंने ग्रंथ साहब बहुत विश्वास किया करते हैं कि गाड़ी कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी चलती है अंदर की ताकत पर चाहे थोड़ी ना हो जैसे पास ना हो रही और तो मुझे खुद को याद है पटवा दुनिया का इस्तेमाल था हजरत के साथ और बहुत बारिश है याद और हमारी हमारे और तक रजनीश में उसमें जाते जाते हजरत जी के लिए किसी की पटवा तरह शादी था उसने हजरत के लिए वो गाड़ी हजरत से चली हम लोग अपनी गाड़ियों में बिल्कुल जंगल बिल्कुल जंगल हजरत की गाड़ी उठ हमारी गाड़ी हजरत ने बताया मनी साहब मुझे गाड़ी खराब हो गई मैंने कहा कि आप इस गाड़ी में चलेंगे यार हम लोग पीछे से आते हजरत को बिठा के रवाना किया दूसरी गाड़ी में हम साथी जिसमें तीन मेहमान हो गए इस तरह वो गाड़ी जंगल में निकली हुई हो गई इसलिए दूसरे दिन आ गए तो क्या हुआ जब कहने भाई मैं और तो कुछ जानता नहीं हूँ डेढ़ दो बजे से रात अंधेरा था था कोई आदमी आया और उसने कहा भाई क्या बात है यहाँ जंगल में तुम खड़े हो जल्दी गाड़ी खराब हो गई क्या खराब हो गई कोई टूट रहा था वो आपको गाड़ियों वाले जानते हैं अच्छा ले उसने लगाया पूजा वो आदमी कहाँ गया कौन था कुछ पता नहीं जिसको हम कहते हैं ना गैजी मदद गैजी मदद कि जब आदमी के सारे असबाब खत्म हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से वो मदद आती है इसीलिए हमारा जुटा फरमाते थे कि दुआ की ताकत को समझो जहाँ सारे बाह्य इसबाब खत्म हो जाते हैं तो आज की ताकत थी वहाँ से इब्तदा तो कहीं मदद हुई वो गाड़ी अल्लाह की शान स्टेशन गए डिस्कशन मास्टर ने कहा कि आपका डिस्कशन तो कल की तारीख का था वो तो खत्म हो गया आपने जा सकते आज मौलाना सईद अहमद खान साहब भी थे हजरत रहमतुल्लाह जी भी थे हम लोग सब थे जब जा ही नहीं सकते हम क्या करें वापस गए जब वापस गए तो वहाँ लोग एक पीटी और गार्ड वगैरह जो होते वहाँ तो वो थे कल नंबर नाइन ना उन्नीस सौ वो साथी हमको ले गए तकरीबन रात को साढ़े बारह बजे हम वापस आए हजरत इसमें वो गाड़ी में सुबह तो जा रही है कुछ में सीटें हो गई हजरत इंतजार होते के साथ ही गए हैं तो क्या अपने साथ जो के जाए मैंने खूब देखा सारी उम्र उनके साथ हजरत जी हमको जब किसी तफादे पर भेजते थे तो जब तक हम उस सफर से वापस नहीं आ जाते थे पूरे तौर पर दिल से मुतवजह है कि हमारा साथी है जैसे मतलब बहुत सारा वापस कर दोस्तों अल्लाह ने सीधा साधा सामान लिया सामान मेहनत की है लेकिन क्योंकि दवा कोई मिले कितना बड़ा हकीम कितना बड़ा डॉक्टर जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है और खुद कहा मौजत रब तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियां कीड़ है नस्बत है रोग है हसन है दुनिया की मोहब्बत है और क्या क्या बीमारियाँ अंदर दिल की और जिसम की आंखों की कानों के हाथों तमाम बीमारियों से शिफा और नसीहत अल्लाह की मौजूद तुम्हारे रब ने तुमको नसीहत की है तो नुस्खा तो है ये लेकिन कोई इसके हुक्म पर अमल न करे कोई इसको इस्तेमाल न करे जैसे हकीम कहता है कि इसको पीस लेना गर्म पानी में उबाल लेना और फिर छलनी से उसको छान लेना और पी लेना ये हकीम ने बताया अब वो लाता है अरे भाई हकीम का तो बहुत है मैं जिसका नुस्खा निकाल के लाया हूँ वो सुबह पहुंचता उठा है हकीम अजमल और तो चूमे देने से सुबह हो जाएगी ऊपर बदलना खींचना पड़ता है दर्द संत वास्ते है संदन का लगाना मुफीद लेक रगड़ना और लगाना ये भी तो है दर्द सर हिदायत के लिए दावत की ये सालाना आसान सी मेहनत है लेकिन इसको करना कि गश के दिन गश का अहतमाम हो तालीम के अपने तालीम का अहतमाम देंगे अल्लाह जिसने सबको दिया वो अल्लाह को हलियो का लेकिन उसकी यहाँ तलब देखी जाए इसीलिए दूसरे शरीर बस तकलीम कमाओ उम्मीद तो जैसा कहा गया है उस पर जमे हो हमारी इस मेहनत में एक इस्तेमत है अपने आप को मोहताज समझ कर इसमें चलना है नफसक अपने को पाबंद बना दो दूसरों को तरजीह देते रहो भाई हमको तो नबी के उम्मीद हम तो हजूर के वारिस हैं हम तो अल्लाह के बंदे हैं जहाँ हम सब हमारा वक्त हमारा पैसा हमारी छोड़ और हम कैसे बैठे पता नहीं किसके क्या क्या प्रोग्राम बना हमारे जिम्मे हम अल्लाह के काम आए अल्लाह के नबी के काम ये प्यार से मोहब्बत से लगे और उसने अजीब बात कही अल्लाह से कभी नाउमीद मत करता हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक आदमी को कदर करने के लिए कहा इसको तो खत्म कर दिया है अल्लाह की शान को मान लिया है तो। ये मान लिया है जिनको ये कत्ल करने को फरमाया अगर तेरे कहे से मैं इसको कत्ल करता तो सीधा गरिमा में जाता अल्लाह ने इसको गरीब तो ऐसी भी मेहनत करनी है अपनी जरूरत समझ कर अपने को मुमताज समझ कर पाबंदी के साथ और इस पर जो अल्लाह के वादे हैं उस पर पूरा यकीन और अल्लाह से अच्छा गुमान ये मुस्तकिल है अली से बात है अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं खाना इंदा जन्य अवधि भी मैं मेरे बंदे के साथ मामला वो करता हूँ जो उसका मेरे साथ गुमान रहता है मेरे अल्लाह ने आज तो मेरी सुन ही ली मेरे अल्लाह तो मेरा ये काम बना ही देंगे कि जब ये गुमान है तो नबी की बात की दूसरी हदीस में आया बहुत से ऐसे हैं की अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ, बाल बिखरे हुए पैर मट्टी में सने हुए कपड़ों में छिंगे और फटे हुए लेकिन उनका अल्लाह की जात के साथ का ताल्लुक ऐसा है लव अब अगर अल्लाह कसम खा ले अल्लाह तुझे तेरी जात की कसम तुझे तेरी इज्जत की कसम ये कहो अल्लाह कहता मेरी मुश्किल इसीलिए अपनी इबादतों पर धरना नहीं करना है कि पता नहीं हमारी कौन सी भी अभी और कौन सी बदअल्लाह की हमारे मुसलमान है जैसे तो नमाज के बारे में हम नमाज समझते हैं लेकिन वही नमाज पर दुआ भी देती अपनी दिनदारी अपने अपने अच्छे अमलों पर धक्का नहीं करना अल्लाह से भीख मांगे अल्लाह जब तुमने इसकी बात लिखी है तो इसको कबूल नहीं करना और दूसरे की किसी भी किसी को भी हकीम नहीं समझना ये दो चीजें होती मतलब हजरत रहमत रवाना कर वाकया सुना देते एक रास्ता था पंद्रह सामने वाला आगे चलने वाला नहीं जा सकता जैसे नर्मदा का फूल होगा इस उनको रोक देते हैं पगडंडी जी को नीचे नाला था गंदा एक आदमी जा रहा था सामने से आने वाला कुत्ता था इसने कुत्ते से कहा साहब तो भाग के ना भागे तब कोई मसला है तू नाले में गिर जा मैं निकल जाऊंगा मेरे तो नमाज का मसला है अल्लाह तो अल्लाह है क्योंकि रब्बुल आलमीन है किस बंदे बंदी की किस तरह तामीयत करेगा वो अल्लाह है इसीलिए मौलाना कि काम करने वालों पर जिस तरह के हालात आते घरेलू कारोबारी रत्नों के परायों के और मुख्तलिफ बीमारियों के सब जो भी हालात आते अगर वो इस वक्त में इतना ध्यान कर लें कि ये मेरे रब की तरफ से है और मेरी तबीयत का सामान है तो बिल्कुल इतमान बने इसका ध्यान अगर न हुआ तो फिर शीघ्र शिकायत शुरू हो अल्लाह ने उस कुत्ते को सवाल दी हजूर मैं खेत पर जाऊंगा आप गुजर जाएंगे लेकिन अगर आपके दिल में इतनी बात आ गई कि मैं कुत्ते से बेहतर तो ये किम्र और ये तुम अपनी खुद पसंदी ये सात समंदरों के पानी से भी पास है इसीलिए हजरत जो वो बुजुर्ग है कि जिन पर तमाम गुलमार मशाए वक्त और सब सारे उन्होंने लिखा है आदमी आदमी नहीं बनता आदमी आदमी नहीं बनता और उसमें सच्चाई नहीं आती जब तक के अपने आप को काफी ने किरण से बदतर न समझे काफी क्यों आगे भगत ने खुद समाया काफिर के लिए हर वक्त किसकी उम्मीद के पता नहीं कब कौन सा अमल कौन सी बात अल्लाह उसके मान से नवाज और इस इबादत गुजार आदि जाहिर को कौन सी बदखलाफी कौन सी बदसूरती कौन सी कौन सा किब्र कौन सी बेअदबी उसमें से वो मालूम हो जाए अल्लाह को तो अल्लाह है ना इसीलिए अल्लाह हमारे लिए अल्लाह पाक ने हमें समाज अपनी मंजिलों को आबाद करें खुद अपनी जात से हम पावन हो जाए और पाबंदी के साथ जैसे भी कभी कर लिया कभी नहीं किया जो उसमें आ गए तो माशा और सीपीआई जी के पता ही नहीं कि अपनी मर्जी का घर व्यक्ति में काली फीस वक्त होती है महीने का कौन सा ऐसा पाबंदी इसीलिए गुजरात परिषद ने मौजूद करवाया अरे अस्त अरे अस्त अब चलो दरमियानी चाल चलो कभी बहुत जोर से तो भाग जाओगे साल खुल जाएगा रह जाओगे इसलिए पाबंदी घर को कितना वक्त है कारोबार को कितना मस्जिद को कितना देना दावत के तकाजों को कितना देना खुद अपनी जात को जो अभी से बचाना है अपने बच्चों हर एक को किसको कितना वक्त देना इसकी तरकीब जब बन जाती है सालाना माहाना हफ्तेवारी और रोजाना इनफरादी और इज्तमाही और इसको अपनी जरूरत समझ कर कि ये वो नुस्खा है પરમિનન્ટ जैसे बात करते होते बात समय होते हैं भाई सहसा दर मूल के वजीर साथ खोलो तो और कहने को तो मारने वाली खोलो तो एसपी क्या अरे बोलो ने क्या देते हैं एसपी तो तो वजीर साहब कहता वजीर साहब हूँ एसपी ऐसे दिखाना चाहे पुराना हो जितनी चाहे परवानियाँ दी हो जितना करो मकाम पर रहते हुए अपने मकामी अमाल का इस्तेमाल और अपनी ज़रूरत समझ कर और किसी कमी बेशी तो हर एक से होती है वह हमने तो इंसान किसी की कमी को कोताही तो को उछालना नहीं उसकी तरह नहीं हाँ, ये जिम्मेदार जो किसी ये अपने को है अब फरमाते के तो माना गया साहब साथी जितना करें उनके थोड़े को भी बहुत समझो और हम जितना भी अपनी ज्यादा ज्यादा करें उसको कुछ ना समझो और उस पर मिसाल देते थे हजरत हजूर खुद फरमाते हैं सत्य हटाना का बदला देते लेकिन हजरत अकबर मेरी माँ ने न बताता अपने दर्द का आप को इस काम में सबसे सवाल और आगे दूसरे को अपने से बेहतर समझे एक मरतबा हम जैसे लेते हैं एक आदमी की शिकायत आई और गलत ने गलत ने उनसे पूछा और थोड़ी लाल झपट और उन्होंने माफी मांगी पर उसने माफ कर दिया चले अल्लाह की शान कुछ अरसे के बाद फिर वो आए कई वाक्य हुए कई मतलब कई लोग आए और अब अगर हम इसको आज दोबारा है ये आया है और हम इसके साथ वो तो पहली उससे हुई उसकी रोशनी में इसके साथ वही मामला करें जो पहले किया था तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है कुछ पता नहीं इसने रोड को करके अपना अल्लाह से मामला कितना साफ कर लिया हो और हम कभी न कर जाए इसलिए हर एक से अच्छा गुमान हजरत फलेबा रजी अल्लाह कहते हैं कि बदगुमानी के लिए तो मैंने अपनी जात को कि मेरे से अलग खराब कोई सारी तरह और अच्छे गुमान के लिए कि हर ईमान वाला हर एक के लिए मेरा ये मुझसे अच्छे है मुझसे जब जब मैं ये सोचूंगा तो ये भी तो यही सोचेंगे ये भी तो यही सोचेंगे ये और ये भी यही सोचेंगे जब हर एक अपने को खुशलवार कर लेगा और दूसरे को अच्छा कर लेगा तो इनकी मोहब्बत उसके दिन में उसकी मोहब्बत के दिल में तो मोहब्बत क्या है लन तक जन्नत तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक ईमान न बने ईमान ईमान नहीं बनेगा जब तक के मोहब्बत नहीं मोहब्बत का रास्ता बना अपने को कमजोर शुरुआत समझना दूसरे को अपने से बेहतर समझना भी अब अगर उस्ताद जो है वो शागिदों के साथ ऐसा मामला करें बच्चे पढ़ेंगे तो उस्ताद तो उस्ताद है उनको आँख भी दिखानी पड़ती है कभी अंगूठे भी पकड़वाते तो हैं कभी उधर गले भी करवाते हैं वो उनकी तरबियत से ऐसे ही हालात बस आदमी यूँ सोचे कि मैं मोहताज हूँ बंदा हूँ मुझे सुधरना है मेरी सलाह होनी है अल्लाह को राजी करना है आखिरत बनानी है नबी के रास्ते पर चलना है और उस सारे के लिए अल्लाह ने यह सादा सा काम किया अगर हम अपनी जात से अपनी तरफी से इसको पाबंदी से करें इन शाला मौलाना फरमाते बातों से बातें अमल से अमल और कुलवान से कुलवानी जिंदा रहे अब कल की बात बताओ कल हम वहाँ गए थे कि हम फूल वहाँ दूसरी तरफ शुरू गुजारिश हुई मैंने पहले भी शब्द जो अपने यहाँ से दो तीन जमाने पहले राउंड में आपके यहाँ से कौन सी जमात कितनी डिमांड है मैंने दो डिमांड पहला राउंड खत्म हो रहा और तीन जमातें हमारे यहाँ की तीन जमातें इस वक्त वहाँ उनमें काम कर रही थी कोई जोन लेकिन कोई जमात नहीं गई उनका अच्छा ये दूसरा राउंड शुरू होने वाला है उसके लिए कौन जो मुझसे वक्त देना है कि मुझे कर एक दो तो प्राकृतिक तो शायद चली तो अब तुम्हारे संवेदन दो हो गए पिछली की सजा भी करनी है और नया अदा भी करना है अब कैसे हो दिल पर अल्लाह के बदले किसी की कमरी किसी की तस्वीर किसी की शख्सियत करने वाली जात अल्लाह की उसकी मदद और उसकी मदद का रास्ता हजूर ने फरमाया अल्लाह की मदद उतनी आती है जितना लोग फिकर और बोझ लेते हैं बोझ अब ये सारा मजमा तय कर लो उनसे कहा कि इस वक्त में इस दूसरे जोन की दूसरे राउंड की जोन की जमात बनानी है तो से नहीं होता बहुत हमारी भी तबियत से तबीयत है बोलते रहते हैं कहते रहते हैं क्या बोलते हैं एक आदमी खड़ा लगा के दूसरा खड़ा हुआ तीसरा ग्यारह साथी अलहमदिल्ला उस वक्त खड़े थे भाई सत्ताईस तारीख को दूसरे राउंड की जाएंगे उन ग्यारह से हमने कहा कि तुम ग्यारह जैसे तैयार हुए अल्लाह के भरोसे तो भी इंसान हो कुछ तो हो नहीं इसका क्या मसला होगा लेकिन अल्लाह के वादे पर यकीन करके आखिर को बनाने अल्लाह को राजी करने के लिए अब तुम हर एक अपने जिम्मे एक एक ले लो तो पिछले रावण की कदा भी हो जाएगी उन्होंने वादे जब उसके बाद हमारी आशी मोगरा बैठे हुए थे भारत में सरकार की मनुष्य जी तो रावण की और गौरव की बात हुई है लेकिन अपना जो स्टूडेंट है जनवरी में जो हर साल होता है

वो नाक भों चढ़ा में हर चीज बताई अल्लाह करे हम इन हासिल करें और सुनाते अलहमदिल्ला कई साथियों ने आपकी मददों को चार जीने क्या आपकी माँ से क्योंकि उसमें का ये खिलाफ आपको तो ग्यारह साथी तो दूसरे राउंड के लिए तैयार हुए कि उन्होंने आपके पिछले अदा करने के लिए तैयार की अपनी मर्जी चली गई ना अरे चौंकड़ी हल्के चले हल्के चले हल्के से मांगते हैं कि से मांगते हैं तो वह अपने हल्के से दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे और आगे दिमाग से और ये सब इस मौलाना शिक्षा गुजारी करवा से मकामी काम की मिसाल ऐसी है जैसे बाग में कुआं बहुत अच्छी जमीन है जाफरान उगाने वाली हर किस्म किस्म के फलों वाली लेकिन कुएं में पानी न हो तो जमीन बंजर हो जाएगी इसलिए मकामी का हफ्ते वाली रोजाना नदी को अपने नाम और सुबह शाम की तस्वीर फिर जो हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ अल्लाह से कह सकते तो फिर इस कुएं का पानी सारे पाप में जाएगा और फिर वहाँ के वहीं से दुनिया में एक्सपोर्ट होता है ये जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी मकानी काम पूरा इमाम से हरेक से रहेगा इन शाह मुल्कों के तकाजे देगी चार महीने के तका देगी सूबों के स्टूडेंट्स की जमा रेलवे वाले मस्तूरा सारे दें वह अल्लाह हमारी मस्जिदों से पूरे करवाएंगे अब बताओ तैयार हो अपनी अपनी जगहों पर मकामी काम पाबंदी से करोगे अपने रंगा अल्लाह के बीच की बात कोई किसी का ना काम पकड़ सकता है ना किसी को कुछ अल्लाह के वाले पर करोगे